से हमारे ऊपर भार पड़ता जाता है आगे काम करने इससे मन में कभी ऐसा नहीं आता उत्साह मिलने पर कि लोग सहयोग नहीं देते तो कार्य को संकुचित थोड़े रूप में किया जाए हाँ जी आइए ब्रह्मचारी जी आओ आओ कितने बैठोगे बस तो ये तो आपके सामने दृश्य जो है ऐसा है कि पक्षियों को कैसे प्रशिक्षण दिया जाता है वो ऋषियों ने बताया है इस समय बच्चियों को प्राय बिगाड़ा जाता है और वो बिगड़ करके देश के लिए भार और देश को नीचे गिराने में वो काम दे ये आप देख सकते हैं तो मैं आपको सुना रहा था कि आपने जो ये कार्यक्रम बनाया और इसमें सहयोग दिया है इसको हम इसी रूप में आगे बढ़ाते चले जाए आगे चलते चलते जहां आप धन की सहायता करते हैं फिर ऐसे भी लोग सामने आते हैं आने चाहिए जो इस काम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करते कुछ आंशिक रूप में सहयोग देते हैं यथाशक्ति जैसे रणबीर जी आइए कहते हैं कि इस कार्य को मैं संभालूंगा ऐसे यदि हम यथाशक्ति कार्य को संभालते जाएं तो ये कार्य थोड़े थोड़े करते करते हम बहुत बड़ा कार्य करते हैं ईश्वर जितनी तीव्रता होगी उतना हम उल्टी चीजों को हटा सकेंगे राजनीति के ढंग से आने वाली आपत्तियां और संप्रदाय के रूप में आने वाली आपत्तियां हमारे सामने बहुत अधिक है बहुत अधिक हम सुनते हैं देवगंज नाम का क्षेत्र वहां विद्यालय और हमने सुना वहां एक विद्वान ने बतलाया उस एक ही विद्यालय में केवल एक की बात है जैसा मैंने सुना तीस हजार युवक ऊंची से ऊंची कक्षा की दृष्टि से तैयारी कुरान के विद्वान बल्कि तैयार हो रहे एक ही कथा है केवल और उनका सारा खर्चा उस संप्रदाय वाले अब तुलना कीजिए तो आप जब इन संप्रदायों के कार्यों को देखोगे ना कभी चाहे वह किसी प्रकार के उस समय उसकी शक्ति का उनके संगठन का उनके जो धनराशि भेंट समर्पण की जो स्थिति देखेंगे तो आप ये देखेंगे हम तो बहुत थोड़ा करेंगे बलिदान की भावना लोगों ने उनके अंदर घुसा घुसा करके भर रखी है वो कहते हैं कि हमने ये काम करना है क्या करना है इस भारत देश के ऊपर हमारा राज्य होगा वो कहते ठीक है बताइए क्या करना है वो कहते बलिदान हो जाओ इतने वो बलिदान हो जाएंगे ऐसी तैयारियां लोगों की अब उसकी तुलना में हमारी कितनी तैयारी है हम कल्पना करके जाइए अपने युवक वर्ग के लोग कहां जा रहे हैं न तो वो ब्राह्मण बनने की बात करते हैं न क्षत्रिय बनने की न वैश्य बनने की बेकार की जरूरत घूमते हैं और उनका धर्म कर्म क्या है वो जो उनके पल्ले पड़ जाए वही उनका धर्म कर्म बन जाता है लड़कियों की स्थिति यही है पढ़ी लिखी लड़कियां हमारी समाजी परिवार में पैदा होती है और उसको प्रशिक्षण नहीं दिया जाता उसको तैयार नहीं किया जाता वो जिस संप्रदाय में कभी नहीं जाना चाहिए उस वो विवाह करवाती है युवक को निर्वाचित करती है आर्य समाज के घर में पैदा होती है ये स्थिति लड़कियों की क्यों आपके मन में यह तड़प नहीं है कि मेरा पुत्र पुत्रिया आर्य समाज इधर चला गया तो कोई चिंता की बात ही नहीं आपके दिमाग में हम तो ही ब्रह्मचारियों को ऐसे सोचते हैं सिखाते हैं यदि ये वैदिक परंपरा से दूर जाता है तो हम किसी काम के नहीं और फिर भी अंतिम बात यदि वो नहीं मानता तो हम उसके साथ एक दिन भी साथ मिलकर के या उसको किसी का अधिकारी बना के नहीं रखेंगे अपनी इंद्र की स्थिति को तो देखो श्रद्धा की कितनी कमी है विश्वास की कितनी कमी है अति कर्मण कर, कर रही है ये मिथ्या संप्रदाय वाले तो इतने विश्वासी इतने दृढ़ विश्वासी बलिदानी संगठित और धन किया उसी जैसे कि आपने देखे कितने बड़े बड़े केंद्र बने हुए और पूर्व की संपत्ति इस पर लगी हुई है और उनका जन समुदाय बहुत अधिक बड़ा है अब उस उस दृष्टि से सोचो सोचने का ढंग ही खराब हो गया हमारा सब सब प्रकार से सत्य होते हुए भी वैज्ञानिक होते हुए भी कोई उसमें न्यूनता नहीं है हमारे इस वैदिक सिद्धांत में पुनरअपि उसमें विश्वास नाम की चीज उड़ गई क्या हुआ ये आंशिक रूप में आपके इन्हीं इन्हीं लोग हैं आप जितनी श्रद्धा आप में है उतनी श्रद्धा और इतनी भी नहीं है जितनी आप में आप जो इसे योग कर रहे हैं आप बहुत अच्छा है इतनी इतनी भी, भी होती सभी आर्यों में तब भी इतनी कमी नहीं आती जितनी आप में पर इतनी हां हा है इतनी भी नहीं इतना धन देने की शक्ति क्षमता या उनके अंदर रुचि नहीं है लोगों में प्राय अब स्थिति यह है ध्यान देना बहुत बड़ा भाग ईश्वर है अपना डीएवी कॉलेज वाला कहलाता है उसकी परंपरा में बिल्कुल अन्यथा चलता है पैसे अन्यथा चलता है खान पान की अन्यथा और क्या सुनाओगे हमने किसी के दोषों को नहीं देखना वो कितना बड़ा आर्य जगत है कितनी संपत्ति है कितना जन समुदाय है कितने उनकी संस्थाएं हैं वो सारे के सारे नास्तिकों के तुल्य लग लग अब बताइए कैसा विनाश हुआ ये स्थिति देखो वो सारी सच्चाई को छोड़ के सारे इस वैज्ञानिक सिद्धांत को छोड़ करके कैसी अंध परंपरा में ढलते चले जा रहे हैं तो इसलिए ध्यान दो प्रत्येक व्यक्ति जब ये मानता है कि मैं अपनी आहुति दूंगा संसार के लोग दे या नहीं दें तब ये काम होता है हम कैसे इस काम को करते हम कैसे सोचते ये देखा करो कभी ऐसे ही सोचते हैं वैज्ञानिक लोग क्या सोचते हैं हम जानते हैं संप्रदाय के लोग क्या सोचते हैं हम जानते हैं आर्य समाज के लोग क्या विचारते हैं क्या सहयोग देते हैं हम जानते हैं अंतिम परिणाम ये होगा वैज्ञानिक लोग हमको ये कहें कि ये धरे के ऊपर चले हुए लोग हैं हमारी सारी बातों का खंडन करके दिखाएं हमको बेकार सिद्ध कर दें हमारी वो हिम्मत है कि किसी भी वैज्ञानिक की बात हमारे ऊपर प्रभावित नहीं कर सके इतना सामर्थ्य अंदर रहता सबका उत्तर हमारे पास में है और हम ये मानते हैं इन वैज्ञानिकों का जो विज्ञान का भाग है वो अच्छा है शेष भाग मूर्खता का हमको कैसे प्रभावित करेगा वो वैज्ञानिक विज्ञान की बात हम मानेंगे जो आत्मा परमात्मा संबंधी बात करता है मानव निर्माण संबंधी बात करता है पुनर्जन के विषय में बातचीत करता है मानव की स्थिति को सुधारना चाहता है धर्म लक्ष्य की ओर सोचता है उस समय वैज्ञानिक लोग पागल की तरह इसे कोई प्रभाव नहीं हमारे ऊपर अब ये प्रभाव हम कैसे रोकते हैं इसमें बहुत बड़ी बात ये है योगाभ्यास के माध्यम से वेद के माध्यम से दर्शनों के माध्यम से और बार बार हम प्रयोग करते रहते हैं अपने जीवन का परीक्षण करते रहते हैं उस परीक्षण में बहुत गहराई में जाते हैं और हम ये परिणाम निकालते हैं हम उनसे बहुत सुखी हैं और जो बहुत सुखी है वो दुखी को हमारे क्यों बनाएगा ध्यान देना इस बात के ऊपर और जो तो दुखी व्यक्ति है वह जरूर दुखी का मार्ग अपना लेगा हम तुलना में जब हमारी तराजू चलती है हम प्रमाण से जब कसौटी से कसते तो सारे वैज्ञानिक हमसे दुखी हैं सारा दुख सुख मिला देना सब साधनों को इकट्ठा कर लो सुख दुख को मिला लो फिर तुलना करना दुख हमको भी छूते हैं और दुख उनको भी छूते हैं ये कोई तो असंभव बात नहीं है और सारा मिला के क्या हम उनसे बहुत अधिक सुखी बहुत अधिक सुलझे हुए हैं वो उलझे हुए हैं बहुत भटके हुए हैं लोग हम भटके हुए हैं अब जब ऐसी तुलना करेंगे तो कौन धरती का वैज्ञानिक हमको प्रभावित करेगा कर नहीं सकता जितनी उलझने आती है वैज्ञानिक के प्रश्न उठते हैं सारी बातें तो हम जान नहीं सकते पर जातक तक हमारा क्षेत्र मोक्ष तक का क्षेत्र है वैदिक परंपरा उस क्षेत्र तक हम प्रत्येक बात का उत्तर देते हैं और उत्तर देने से संतोष होता है हम प्रमाण से सिद्ध बात का उत्तर देते केवल कल्पना के लिए एक बार ये होता है हम देखते हैं हमारे पास साधन नहीं लोगों की सहायता नहीं लोग हमको अच्छा भी तो नहीं मानते ये इतना बड़ा कि हम उसका उत्तर वैसे ही देते सोचने की पद्धति है सीख लो हम ये देखते हैं कि संसार के अंदर विविध प्रकार की बुद्धि है और कई बार सोचा सूत्र बनाते हैं ना हम तो ज्ञान के चार विभाग बना लेते हैं याद रहेंगे ना सुने होंगे आपने चार ज्ञान के संबंध में ज्ञान की ज्ञान का किसी विषय में अभाव और किसी विषय में भ्रांति और किसी विषय में और किसी विषय में निर्णय निर्मित निश्चयात्मक ये चार विज्ञान के क्षेत्र लगातार प्रत्येक व्यक्ति के खोपड़ी में इसे <laughs> बच नहीं सकता चार ज्ञानों विज्ञानों से विचारेगा वो व्यक्ति कहे कहीं रहे वो विचारेगा अब उसकी भिन्न भिन्न अवस्थाएं भिन्न भिन्न उसके सोचने के ढंग है ये सारा समाज उससे प्रभावित है तो ये सबके दिमाग में रहेंगी ये बातें तो अब इनके रहते हुए करेंगे जो कुछ हम करेंगे सोचते रहो चार में रहोगे आप चार से इधर उधर जा नहीं सकते और हम इसका समाधान कर लेते अब मानसिक प्रभाव भी पड़ता है व्यक्ति के ऊपर कभी निराशा भी उभर के आ सकती है पर एक सिद्धांत ऐसा है कि हम उस सारी निराशा को दूर कर देते हम ये समझते हैं मानते हैं ईश्वर का अनुकरण करना चाहिए हमको ऋषि ने लिखा वेदों के विरुद्ध न हो पक्षपात रहित हो और ईश्वर के गुणक्रम स्वभाव से विरुद्ध न हो तदनुरूप हो तो ईश्वर का गुणक्रम स्वभाव कैसा है ईश्वर सदा उपकार में लगा हुआ है कोई माने न माने कोई करे न करे मुक्ति में जाए न जाए तो वह संसार को बनाना चलाना बिगाड़ना फलाना चाहे वह रुकता ही कभी नहीं तो हम क्यों रुके ईश्वर का अनुकरण करते हम ईश्वर की बात कितने लोग मानते हैं बताओ है जी आप में यदि थोड़ा बहुत मानते होंगे बीस में यदि कितनी मानते होंगे दो तीन बैठ पंद्रह खाली या कितनी खाली पड़ी अजब ईश्वर की बात नहीं मानते हमारी मानने की कहां बात है अब जी ईश्वर की बात आप नहीं मान सकते तो हमारी कैसे मान सकते और जब ऐसी स्थिति है तो क्या हुआ कुछ भी नया नया कुछ भी नहीं एक और ध्यान से सुन लो नई चीज कुछ नहीं चीज <laughs> तो सोच लो वो नई चीज नहीं है तो घबराने तो की क्या बात है नहीं? मौत हो गई तो क्या नहीं है कोई पैदा हो गया तो क्या नहीं है धन नष्ट हो गया तो क्या नहीं है अब बीमार पड़ गया तो क्या नहीं है तो कौन सी नई बात है जिसे हम आश्चर्य में पढ़ते कोई भी नहीं नहीं वही चक्कर अनाधिकार से चला रहा है और अंत काल तक चलता रहेगा बताओ क्यों घबराते हो देखो एक समाधान जैसे सोचने का ढंग है कोई नई घटना तो है ही नहीं फिर आश्चर्य में क्या पड़ती हो घबराते क्यों और एक और बात कई बार हम सत्य का आचरण करते हैं लोग हमको झूठा बताते हैं एक लेख निकला एक पुस्तक में उसका शीर्षक है एक सत्यवादी सन्यासी <laughs> और उसमें सारा मेरा विवरण है और उसमें सिद्ध किया है ये महा झूठा छली कपटी जो की है महा मिथ्यावादी है अब बताओ आप घबराओगे नहीं घबराओगे नहीं मेरा मतलब कि जब ऐसी ऐसी चीजें आती हो और वहां ये भी रोटी मिलता है इतना धन इकट्ठा किया लोग बड़े बेसमझ है क्या शब्द है मुझे पता नहीं देते रहते दान का दुरुपयोग हो रहा मेरा मतलब है कि ऐसी चीजें आती है तो हमको इसके विषय में चिंता ही नहीं होती हां एक बात अभी नहीं है आप तो फिर क्यों बार बार दोहराते हो जो समाज की हानि होती है एक व्यक्ति घातक चीजों को आगे ले जा रहा है वो समाज को दिमाग बदल रहा है आज भी एक आए थे कि वो पुस्तक लेके के वो बांटेंगे वही वही पुस्तक वो हमारे पास होती है वो वो जो चीजें जो बात है ना उसका खंडन करना हमारा धर्म है कोई ये नहीं सोचा आप बात कर रहे हो वो जब बुरी चीजें सामने आएंगी लेख रूप में हजारों लोगों का दिमाग किया जा रहा हो खराब तो उसका खंडन नहीं करेंगे तो आगे बढ़ खंडन तो आपको भी करना पड़ेगा प्रेम से और खंडन आप भी करेंगे एक ही भाषण बहुत है उस सारे कागजों को खराब करने के लिए ये सारे अनर्थकारी लेख चल रहे हैं उन पुस्तकों में तो हम इनका निराकरण नहीं करें ना तो पता नहीं क्या हो जाए सच्ची घटना सुन लो पांच ढाई वर्ष पहले की घटना मुझे तो ऐसे लोगों का तो सताई रहते हैं अच्छे काम मत विरोध करने वाले होते हैं ये स्वाभाविक बात है पर मेरा मतलब है कि आप प्रयास नहीं करते तो क्या होता ध्यान देना योजना बनाई गई लंबी चौड़ी उस योजना में यह था कि हमारे इनको तो निकाल दिया जाए और नया एक ब्रह्मचारी तैयार यहां बिल्कुल खोलेगा और इनको इससे बाहर करवा दी बंदी का ये योजना बनाई अब योजना का हमको पता चल गया और यदि पता नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता सारी योजना को दिमाग में रखते रखते बहुत प्रेम से बड़े ढंग से उस योजना को विफल कर दिया नहीं तो हम यहां नहीं होते आप यहां नहीं आते ये स्थिति यदि हम प्रयास नहीं करते फिर दूसरी योजना बनाई वो योजना बनाई अहमदाबाद में विद्वान रख लिया और यहां ब्रह्मचारियों को पढ़ाएंगे आर्यवन विकास को यहां बुला लेंगे और इनको बेकार सिद्ध कर देंगे आर्यवन विकास से भाग जाएंगे वो योजना हमने विफल कर दी आदमी समाजियों को समझा दिया और उस विद्वान को भी समझा देखो क्या कर रहे हो आप जो वहां बैठने वाला था वो भी डर गया और आज ये समाजियों को भी समझ में आ गई तो वो योजना खत्म हो गई तो खत्म हुई ध्यान देना यदि हम बुद्धिपूर्वक काम नहीं लेते तो ये पता नहीं क्या हो जाता इसलिए ये हमारा किसी व्यक्ति के से कोई विरोध नहीं है कोई भावना बिल्कुल नहीं है और राष्ट्र को हानि पहुंचाता है आर्य समाज की हानि करता है संस्था को उजाड़ना चाहता है और हम चुपचाप बैठे रहे कुछ भी ना तो भाषण दे ना बताएं ना आपको सावधान करें तो ये काम इसलिए मैं बार बार दोहराता हूं इनसे बच के रहना फिर उसने प्रयोग किया पुस्तकों में लिखने का आर्य समाज के विरुद्ध वेदों के विरुद्ध संन्यासाश्रम का खंडन ब्रह्मचर्य का खंडन क्या बताओ सारा सारा उनकी पुस्तकों से पर्याप्त और वो चल रहा है और जब वो हमारे सामने आता है तो हम मुजफ्फरनगर क्यों नहीं करेंगे विवेक जी प्रवचन के लिए जाते हैं और वो जो प्रवचन के विरुद्ध बोलते हैं वेद के विरुद्ध बोलते हैं और लोग प्रश्न उठा लेते हैं अब बताओ हम चुपचाप कैसे बैठे वो वेद के विरुद्ध व्याख्यान दे वेद के विरुद्ध लिखा जाए लोग कहीं देखें कि ये फलाने व्यक्ति ने ये लिखा है तो विवेक जी को तो उत्तर देना पड़ेगा उत्तर दिया अब वो पुथल मच गई बचेगी वो तो ये जब ऐसा ही हो रहा हो तो उत्तर तो देना पड़ेगा हमको ये मैं इसलिए छेड़ता हूं कि हमारी गतिविधि को धक्का मारने वाले जो लोग हैं उसे सावधान रहना ही पड़ता है इसलिए मैं इन बातों को छेड़ता हूं पर याद रखना सब कुछ होते हुए भी जिसने सारे आरोप लगाए ध्यान देना और लगा रहा हो मैंने कभी भी उसके ऊपर एक तिल भर भी आरोप नहीं लगाया याद रखना अच्छी तरह झूठा आरोप मैं लगाऊंगा जो उसकी मिथ्या बातें होंगी उनका खंड अच्छी कोई बात होगी उसको सीखा ये योगाभ्यास से शक्ति आती है कोई द्वेष नहीं पर झूठ के साथ संधि समझौता करके बैठ नहीं सकते याद रखो और ये इस बात के ऊपर भी ध्यान देना ऋषि ने एक बात लिखी भूमिका में सत्या प्रकाश में ध्यान दो जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक हित को सामने रखकर प्रवृत्त होता है तो स्वार्थी लोग पक्षपाती लोग ऋषि का भाव है वो विरोध अवश्य ही किया करते ये स्वाभाविक बात है परंतु सत्य में वह जय थे वो लिखा हुआ है नानतम ये ऋषि ने लिखा सत्य की जीत होती है कभी महान व्यक्ति कभी उदासीन नहीं होती हम आज भी आनंद में हैं और भय की बात ही कुछ नहीं और वो व्यक्ति डरा डरा बैठा है कैसे चालाकी चलू कैसे लिखूं बिना नाम नहीं लिखता <laughs> देखो तो और मैं नाम लेके बोल रहा हूं अब भी और फिर भी नाम लेके बोलूंगा और मुझे कभी ऐसा ना हो गया अरे समाज को कुछ चोट पहुंच जाएगी तो मंच पर जाके बोल दूंगा नाम लेके बोलूंगा कमलेश कुमार अग्निहोत्री हाँ हाँ पाइसी समाज वाले कुबेर नगर आइए समाज देखो माता जोश मत आ जाना कभी एक बार उर्मिला जी में जोश आया हरियाणे वाले में जोश आया बलबीर जी में जोश मैंने कहा नहीं देखो ऐसे मत करो यदि जोश वाली बात होती ना और तो स्वीकार करते पांच वर्ष पहले लड़ाई हो जाती या तो उसका सिर पूछता ना हमारे उनका नहीं का फूटता हमने कहा ऐसा नहीं ऐसा नहीं करो हमने ये शैली भी अपनाई ये अलग बात है कभी कभी व्यक्ति दुष्टता से कभी भी वो रुकने के लिए तैयार नहीं हो तो वो आगे की बात है वो होती है सबसे पीछे <laughs> तो मैं आपको सुना रहा था इन बातों का भी बड़ा ध्यान रखना और मैंने कई बातें बीच में सुनाई सोचने का ढंग है सोचने की पद्धति है आनंदमय जीवन है ये योगाभ्यास को साथ जोड़ो ईश्वर के साथ जोड़ो ऋषियों की बातों को सामने रखो किसी की नहीं सुननी बड़ा आनंद आएगा आपको कभी यह नहीं लगेगा हमने धन दिया समय लगाया हमको कुछ लाभ नहीं हुआ यह कभी नहीं होगा हम तो ये मानते हैं इस मार्ग को अपना करके इसी स्थिति में हम चल करके हम कृतकृत्य मानते हैं अपने आप को कभी हमको ये नहीं लगता कि हम बड़े दुखी हैं हमारी सहायता नहीं की तो दुखी हो गए हैं अब ये कभी नहीं मानते मन इसलिए आप इस कार्य में लगे रहें और सोचने की पद्धति को बदलें अब इसको यहीं पर विराम दिया जाता है ओम शांति